उनके स्वरूप उनका कैसा है उनके गुण कैसे हैं उनकी महिमा कैसी है ये सब उसमें वर्णन है तो इन स्थितियों में जब स्थिति करते तो भगवान के स्वरूप का स्मरण आता है जैसे शब्द बोलते जाते हैं उसी प्रकार का अर्थ का ध्यान करें तो भगवान शंकर जी कैसे हैं वो वही चित्र में उसी प्रकार का रूप आ जाता है उसमें देखेंगे गुणों का जो वर्णन किया जाए उनमें दया का और कृपा का गुण विशेष रूप से वर्णन किया गया बार बार इसको बोले हैं कि आप कृपालु हैं दयालु हैं कृपालु हैं दयालु हैं ऐसे बार बार बोला गया तो ये जिससे कि भगवान शंकर जी समय क्रोधित होकर के उसको साथ दे रहे हैं तो फिर उसके साथ को क्षमा करें कृपा करें दया करें ये चाहते हैं इसलिए बार बार उनको दयालु कृपालु बनते रहते हैं ये भगवान का ये उनको नमामि करके प्रणाम करते हुए भगवान हम आपको प्रणाम करते हैं मानते हैं ईशान ईशान आप ईशान कोण के ईशान मैंने पूर्व और उत्तर दिशा का जो कोने वाला भाग है जो ईशान भाग कहलाता है उस ईशान के स्वामी इसलिए ईशान के स्वामी ईश्वर आप और निर्माण रूपम और स्वरूप निर्वाण स्वरूप है नित्य स्वरूप निर्वाण मन मुक्ति परम परमात्मा तो नित्य स्वरूप है ही परमात्मा में भगवान शंकर जी परम परमात्मा जो है वही रूप है तो आप मुक्त स्वरूप है और विधि व्यापकम आप दिव्य व्यापक है दिव्य के मन में है व्यापक एक तो होता है ये जैसे कि वायु सर्वत्र व्यापक तो एक तो व्यापकता ये है कि सर्वत्र समझ जगह विद्यमान इसलिए व्यापक है और एक व्यापकता ऐसी जैसे जल समस्त कर्मों में व्यापक है तो एक दिन है एक व्यापक है तो परमात्मा दोनों रूप में है वो दिव्य भी है व्यापक भी है जब तो विभिन्न व्यापकम ब्रह्म आपके ब्रह्म स्वरूप ही ब्रह्म ही है शंकर जी और ब्रह्म एक ही बात अब ऐसा नहीं कि शंकर जी कुछ और हैं कृष्ण भगवान कुछ और हैं इस प्रकार से नहीं वो जो परम परमात्मा है वही शंकर जी इसलिए कहते हैं आपके ब्रह्म ही ब्रह्म ब्रह्म स्वरूप और वेद स्वरूप हम वेद के माने हैं ज्ञान स्वरूप संवेदन स्वरूप जो ब्रह्म तत्व है वो चेतना स्वरूप है और वो अपने शरीर का उसे अनुभव है इसलिए उसे वेद स्वरूप करते हैं और तो परमात्मा का ज्ञान कराने वाले या संवेदना कराने वाले परमात्मा के अनुभूत कराने वाले जो वाक्य हैं ये वाणी है उसे भी वेद करते हैं भगवान स्वयं वेद स्वरूप है भगवान जो वाणी जो है जिसके द्वारा परमात्मा का भेद संवेदन होता है उसे भी वेद करते हैं और जिसको भी परमात्मा का ज्ञान हो गया उसे भी परमात्मा का वेदन हो गया संवेदन उसको भी प्राप्त हो गया इस प्रकार से परमात्मा परमात्मा को ज्ञान कराने वाला आशा या वाणी और फिर जिस व्यक्ति को परमात्मा का बोध होता है वो ये सब वेद स्वरूप ही होती है इसलिए कहते हैं कि आप जो है वो है धर्म है और वेद स्वरूप निजम निर्गुणम निजम मैंने आत्मस्वरूप अपना निज मैंने आत्मा के लिए शब्द उपयोग किया जैसे अंग्रेजी में कहते हैं जैसे my self your self in self तो के मैंने क्या है निजम है बोली जो सेल्फ ऐसा शब्द है first person second person third person तीनों प्रयोग करते हैं जो सिर्फ तीनों परसेंट में प्रयोग में आता है वो निगम निगम निर्गुणम निर्गुण के नाम है जो निर्गुण रूप सबसे समस्त परे ये तीनों गुण जिसमें से नहीं है उनसे अतीत है निर्गुणम निर्विकल्पम निर्विकल्प कल्प के मने जो मन जो है सविकल्प लेकिन परमात्मा मन से अतीत है इसलिए वो निर्विकल्प निर्विकल्प जब बोलते हैं तो मन बुद्धि की कल्पना में वो नहीं आता बुद्धि ग्राह्य नहीं मन ग्राह्य नहीं इसलिए उसे निर्विकल्प निरीहम की आत्मनिष्ठा निरीहम मन जिसको किसी प्रकार की कोई काम नहीं वो तत्व है पूर्ण है अपने आप में चिदाकाशन और वो चिदाकाश मैंने जैसे जातक बता दिया तो कैसे व्यापकता है आकाश की तरह जातक नहीं आकाश है जड़ लेकिन आकाश की तरह जातक तो है लेकिन हर चेतन वो जड़ होकर के जात नहीं चेतन होकर के व्याप्त है ये बताने के लिए कहते हैं चिदाकाश स्वरूप है फिर ये परमात्मा एक ऐसा आकाश है जो चिदघन है चिदाकाशन और आकाशवासन तो कहते हैं कि ये आकाश में बात करने वाले हैं किस आकाश में बात करने वाले हैं हृदय आकाश में बात करने वाले शुक्रिया कहते हैं कि परमात्मा कहा है तो परमात्मा हृदय आकाश में हृदय ढूंढो आकाश के समान हृदय कैसा है हृदय से छोटी सी वस्तु नहीं है आकाश की तरह हृदय स्वयं है तो आकाश में बात करने वाला परमात्मा चिदाकाश है सूर्याकाश में जो चेतना सर्वत्र व्याप्त है वो परमात्मा की है परमात्मा का स्मरण करें परमात्मा के ध्यान करने भगवान शंकर जी का ध्यान स्मरण करने के लिए बहुत अच्छे स्थिति की आदि स्थिति बोलो अपने हृदय में देखो हृदय में चिराकाश का अनुभव करो ये देखो जी चिराकाश भी परमात्मा सुधा का समाता सुभाषण भजे हम हम आपका भजन करते हैं हम आपके प्रणाम करते हैं स्वामी है आपके निराकारम और आप निराकार जैसे निर्विकल्प कर दिया तो निराकार कर दिया कि आपका कोई आकार नहीं आकार नहीं आप असीम हो पूर्ण हो अनंत हो निराकार ओंकार मूलम और आप ओंकार के मूल हो ओंकार सिमर ओंकार के एक अक्षर है उस अक्षर का अर्थ क्या है उसका वाचक है यही परमात्मा का ब्रह्म का वाचक है तो वो जो ब्रह्म है वो तो ओंकार का मूल है ओंकार उसी का वाचक है इसलिए कहते आप ओंकार के मूल तुरीयम आप तुरी तुरी चतुर्थ अवस्था तुरी कहलाती है जागृत स्वप्न सुसुप्ति की अवस्था से जीव की है और जो चौथी अवस्था है वो तो आत्मा की और परमात्मा की तो वो परमात्मा प्रिय स्वरूप सदा चतुर्थ अवस्था में जहाँ पर की जागरूक शक्ति कुछ नहीं है जागरूक शक्ति की अवस्था आने जाने वाली है विकारी अवस्थाएं परिवर्तनशील में कभी जागृत है कभी सब में कभी सुषुप्त प्रति जागृत जागरूक जागरूक प्रिय जागरूक तो जीव इस प्रकार की इन तीनों अवस्थाओं में भ्रमण करता रहता है लेकिन परमात्मा भी एक अवस्था है सदा प्रिय अवस्था है उस अवस्था में सदा एक समान सदा विद्यमान रहता है न उसके सोने का काम न जागने का काम न एक अवस्था से दूसरे अवस्था में जाने का काम सदा एक समान सदा विद्यमान हो धन होकर के आकाश का स्वरूप होकर के इसलिए प्रिय स्वरूप जरा ज्ञान गोटी कवि सुंदरी संग जरा ज्ञान और गो के अतीत मैंने ग्रामीण बाणी बाणी बौद्धिक मानसिक ज्ञान या ज्ञान मन बाणी और बुद्धि के परे ये कहते हैं कि ये समझते गोपी है इंद्रियों के परे जो आप इंद्रियों मन इंद्रियों से ग्राह्य नहीं है आप बौद्धिक ज्ञान से ग्राह्य नहीं है आप वाणी से ग्राह्य नहीं है यथो यथो वाचा निवर्तन के यथो वाचा निवर्तन के अर्थात मन आता जहाँ पर मन भी नहीं पहुँचते वहाँ से लोग आते हैं तो समय परमात्मा जो है वो मौन स्वरूप बोलता है जीव बोलता है उसकी वाणी जो है बोलती है मन बोलता है बुद्धि बोलती है ये सब बोलते हैं लेकिन उनका सत्य का प्रकाशक साक्षी आत्मा परमात्मा तो बोलता नहीं मौन शांत स्वरूप मौन स्वरूप है तो वहां पर जहां पर कोई जहां बिल्कुल शांति ही हो तो एकदम मौन ही हो वहाँ मन कैसे प्रवेश करो वहाँ मन कैसे प्रवेश करो मन बोल बोल रहा है वो कैसे प्रवेश करे इसलिए कहने को तात्पर्य कि परमात्मा मन वाणी और बुद्धि के उनको तो सबके इंद्रियों के परे हो और दूसरी बात ये परमात्मा को पहुंचना हो जानना हो तो फिर इन सबके मन वाणी की जो बदलाहट हो तो सबको छोड़ करके पार जा करके सब परमात्मा को प्राप्त करना अल्लाह बिल्ला में चाहते हुए परमात्मा के राज्य में प्रवेश करना चाहें तो नहीं जा सकते माँ जब ये दंड भी उठे अल्लाह ने खाते तो घुसे जा रहे हैं हम्म। जब ये सब दानी बोलने वाली दानी पीछे छूट जाए बोलने वाले मन बुद्धि पीछे छूट जाए तब परमात्मा जरा ज्ञान ज्योतितम ज्योतितम ईशम गुरीशम और ईश्वर ईश्वर मैंने सबके सामने सारे जगत के सामने जगत के समस्त जगत की उत्पत्ति आश्रय दी है आप पर ही आश्रय है इसलिए उसके भी सामने आप गुरुशन गुरुशन मैंने गुरु के भी स्वयं पलाश पर्वत पर वास करने वाले होने के कारण से गिरीश रामशंकर जी के नाम करालम महाकाल कालम अब कहते हैं आप कराल है और महाकाल के से भी काल है लेकिन प्रकाल करालम करालम हमारे प्रकार से बड़ा क्रूर स्वभाव का होगा दूसरे को बस मारने काटने में उसको अच्छा लगता है अच्छी सुबह नहीं पराल है वो इसलिए सारी सृष्टि का विनाश भी करने वाले हैं ये सब कर देने वाले हैं इनका भी भूमिका है लेकिन दयालु भी महाकाल काल में महाकाल के भी काल है मैंने मृत्युंजय ये बात है कहते हैं आप जो हो कृपालु हैं मृत्युंजय है मृत्यु के भी परे हैं उसके ऊपर विजय प्राप्त करने वाले हैं और गुणाधार और समस्त सदगुणों के आधार में तीन गुणों को कहते हैं लेकिन समस्त सदगुण सब सदगुण ये शब्द सब है उदारता क्षमा प्रेम करुणा सहनशीलता ये सब सदगुण है वो सब विद्यमान है ये गुणाधार संसार कारण और संसार के कारण जीव संसार में खड़ा हुआ लेकिन परमात्मा संसार से अतीत होता है परमात्मा संसार में संसार चक्र में बना हुआ नहीं है क्योंकि जीव ही अपने अज्ञान के कारण संसार चक्र में खड़ा हुआ इसलिए परमात्मा को कहेंगे कि वो संसार के पास न तो हम हम जो है आपको नमस्कार करते हैं प्रणाम करते हैं नमन करते हैं कि सारा कुछ उनका के दौरान का विवरण और शरीर का वर्णन करते हैं उनका साकार रूप जो है वो उसका वर्णन करते हैं साकार रूप में कैसे हैं भगवान तो किसारा के संकार किसार के में हो बर्फ और अदृत बने पर्वत किसारा के में हो बर्फ से घटा हुआ जैसे पहाड़ जिस चिंता होता है संकाश में उसी समान उसी को समतुल्य गौरव उसी के समतुल्य आप गौरव जैसे कि एक पर्वत घटा होकर से घटा हुआ पर्वत गौरवर्ण दिखाई देता है वैसे ही आपकी गौरवर्ण आपका शरीर है तुषारा के संताप गौरम गंभीरम और आपका स्वभाव बड़ा ही गंभीर है गहन स्वभाव गंभीर है और मनोभूत कोटि प्रभाव आपके शरीर बड़ा प्रकाशवान तीजे में बड़ा ही सुंदर है कहता है कि कोटियों भूत के समान प्रकाशमान प्रकाशवान भूत के मन कामदेव बड़ा सुंदर तो कामदेव कोटियों कामदेव के समान सुंदर तो आपका सुंदर स्वरूप है और प्रभावान है प्रकाशक स्वरूप तेजों में आपका रूप है श्री शंकर प्रभाव भी ऐसे भी कर सकते हैं आपके प्रभाव की शोभा सुंदरता उससे संपन्न है श्री मन उस लक्ष्मी मैंने यहाँ पर उनकी भगवान का तेजस्विता है तेजो में है इसलिए वो तेजो स्वरूप होने के कारण श्री संपन्न है शरीरम आपका ऐसा शरीर है आपका शरीर मनोभूत गुट प्रभाव अच्छा शंका गौरव ऐसा शरीर आपका विस्फोरण मौल कल्लोलनी सारी गंगा और आपके मस्तक के ऊपर गंगा जी सफल करती हुई प्रभावित हो रही कल्लोलनी विस्फोरण मौल मौल के माने बालों में जताओं में वहाँ पर स्फुरित हो रही है गंगा जी निकल रही प्रभावित हो रही और कल्लोलनी शिकलाती हुई निकल रही चार सुंदर गंगा जी का प्रभाव फसलाता हुआ आपकी जताओं से निकल रहा है लसत भाल बाल इंदु और आपके मस्तक के ऊपर बाल इंदु भी शोभायमान द्वितीय का चंद्रमा उनके मस्तक पर विराजमान है और कंठे भुजंगा और उनके गले में भुजंग सब लगते हुए गले में सर्पों की माला लगते गए हैं चलत कुंडल और कानों में कुंडल धारण किए हुए हैं वो चल रहे हैं कुंडल चलते हुए चमक रहे हैं कुंडल चलत कुंडलम धूम सुनेत्रम और गुरु हृदय भी बड़े सुंदर है नेत्र भी बहुत सुंदर है और विशाल है और नेत्र बड़े विशाल नेत्र है ये विशाल नेत्र सुंदरता के सूचक आपके विशाल नेत्र है ज्ञान प्राप्ति जिसमें नेत्र में दिखाई देता है प्रकाशवान है गंभीर नेत्र है विशाल होते नेत्र और प्रसन्न मन और आपका आनंद प्रसन्न है मुख प्रसन्न है प्रसन्न वदना ऐसा स्मरण दयालु हुए और प्रसन्न जैसे कि शंकर जी ने साथ दिया होगा तो कोई प्रसन्न मदन नहीं होंगे शंकर ऐसा जैसे कि गुस्सा आ गया उनको अपने कम नहीं होंगे लेकिन ये कहते हैं गुरु जी की नहीं नहीं आप प्रसन्न मदन आपके सदा प्रसन्न रहने वाले सदा दया करने वाले हो कृपालु हो मई नीलकंठन दयालन और आपका कंठ जो है उसमें नीलिमा झलक रही जो विश्वान आपने किया है वो कंठ में विराजमान है वो चमक रहा है इसलिए नीलकंठन और फिर दयालन जैसे फिर कहते हैं कि आप दयावान हो दयालु हो प्रसन्नानंद हो कृपालु हो ऐसे होते हैं कर्मांबरम और आप जो है वो अंदर को धारण हुए आपका वस्त्र क्या है मृगाधीश का सर नहीं आपका अंदर है मृगाधीश के मैंने सिंह मृगों का मैंने सिंह और सिंह का चर्म मैंने जागृ चर्म वो जो है वो वही पहने हुए हैं भगवान शंकर जी उसी को लपेटे हुए हैं में मृगाधीश और मुंड मालम और मुंडे की माला पहने हुए गले में जो वो नरमुंडो की माला भी धारण किए हुए मुंड वाले प्रेम शंकरम सर्वनाथम भगवानी है और जो शंकर जी सबके बड़े ही प्रिय हैं और सबके नाथ हैं ऐसे भगवान शंकर जी का हम भगवान उनका भजन करते हैं नमन करते हैं रक्षण करने वाले कल्याण करने वाले शंकर शब्द भी सूचक है दया करने वाले हैं कृपालु हैं कल्याण करने वाले हैं ऐसे बोलते हैं प्रचंडम तपस्तम प्रगल्भम परेशम आप कहते हैं आप प्रचंड है आपका रुद्र रूप है तो प्रचंड का जैसे कालम कहा जैसे प्रचंडन कहा तो आपका जो है वो शंकर जी है विनाश के लिए सारी निश्चित सुख का विनाश करने वाले हैं इसलिए प्रचंडम है और तपस्तम मैंने सर्वश्रेष्ठ मन मनुष्य उत्कृष्ट प्रकट ऐसे बोलते हैं जो श्रेष्ठ है उसको प्रकट कहते हैं और प्रगल्भन प्रगल्भ में प्रगल्भता कहलाती है बाणी की चाकरी प्रगल्भता कहलाती है जो बड़ी चतुरता से बातचीत कर सकता है बोल सकता है उसको कहते हैं प्रगल्भता और वो तेजस्वी का भाव भगवान आप तेजस्वी है ज्ञानवान है प्रगल्भता में ज्ञानमान ज्ञानमान और बाणी की कुशलता प्रगलभन परेशन और जो आप महेश्वर अर्थ महेश्वर आप महेश्वर है देवताओं के भी देवताएं हैं सब देवताओं के स्वामी हैं महेश्वर हैं अखंडम आप अखंड स्वरूप अजम जिनका जन्म नहीं होते तो अज हैं और भानुक कोटिक प्रकाशन करोड़ों करोड़ों सूर्यों के समान आपका करते है प्रकाश जब भगवान जो है चेतना स्वरूप है तो चेतना जो है वो करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान होती है यानी एक सूर्य सारी सृष्टि को प्रकाशित करता है लेकिन सूर्य जो वो हो स्वयं अपने आप को प्रकाशित नहीं कर सकता उसको प्रकाशित करने के लिए चेतना चाहिए और एक सूर्य हो चाहे करोड़ों सूर्य हो लेकिन उनमें चेतना नहीं तो वो स्वयं प्रकाशित नहीं हो सकते उनको प्रकाशित करने के लिए चेतना चाहिए इसलिए चाहे एक सूर्य हो चाहे करोड़ सूर्य हो उनसे भी ज्यादा प्रकाशना चेतना स्वरूप चितघन परमात्मा बोलते रहते हैं कि भानु कोटि प्रकाशन कोट भानु के समान प्रकाशमान और अजन है मैंने आप अनादि अनंत हैं आप अखंड है मैंने हरिभक्त है परमात्मा अखंड अनादि अनंत है एक अखंड एक रस परमात्मा वही बोलता है तो प्रयासूल निर्मूलनम शूल पानी प्रयासूल के तीन शूल्य है उनका आप करने वाले शूल पानी पानी मैंने हाथ आपके हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए हैं आपके खुशी का क्या प्रभाव है तो जो तीन सुन है उनको निर्मूल कर देने वाला तीन सुन क्या है जो तीन पाप है दैविक दैविक भौतिक तीन पाप है वो तीन सुन है उन तीनों सुनों को निर्मूल कर देना व्यस्त कर देना समाप्त कर देना तो शंकर जी का प्रसूल क्या है दैविक दैविक भौतिक पाप जो तीनों प्रकार के पाप हैं उन तीनों प्रकार के पापों का नाश कर देने वाला भजे हम भवानी भाव भावगम्यम हे भवानी पति हम आपका भजे हम आपको प्रणाम करते हैं वंदना करते हैं ये है भगवान सिंह करते हैं कहते हैं भावगम्यम आप भावगम्य हैं जैसे एक स्थान पर कहते हैं कि भगवान राम जी कैसे हैं ज्ञानगम्य ज्ञानगम्य जय रघुराय ये भगवान आप जो ज्ञानगम्य हैं जैसे संकल्प जी के लिए कहते हैं आप कैसे हैं भावगम्य हैं तो में भाव के साथ होने योग्य है भाव में प्रेम का भाव जब ही भावना प्रेम होगी हृदय में तो परमात्मा प्रेम होता है परमात्मा की प्राप्ति होती है इससे भाव बनने बात है भाव गण्य कहो तो प्रेम से परमात्मा की प्राप्ति होती है ज्ञान गण्य कहो तो ज्ञान से परमात्मा की प्राप्ति होती है तो ज्ञान और भाव कोई विरोधी शब्द नहीं हुए इसके नाम परमात्मा का ज्ञान हो और भाव सहित ज्ञान हो प्रेम सहित उसमें परमात्मा में प्रेम भी हो दोनों ही बातें मिलकर के परमात्मा की तरह तो कलातीत तो कल्याण कल्पांतकारी कलातीत आप कला के अतीत कला के मन अंश जो भाग विभक्ति है वो कला कला की सोलह कला जो चंद्रमा है सोलह खंड तो मैंने आप घटते बढ़ते नहीं जो चंद्रमा घटते बढ़ती है तो चंद्रमा में कला है लेकिन भगवान कैसे हैं कलातीत है वो घटते बढ़ते हैं सदा एक समान पूर्ण होकर के विद्यमान है और कल्याणकारी है कल्याण स्वरूप सबका हित करने वाले कल्याण करने वाले और कल्पांतकारी कल्पकांत करने वाले मैंने प्रलोकन करता है एक तो भगवान शंकर जी प्रयोग करते हैं अंत में चाहे आजाद बरसने लगे और चाहे पानी पानी फैल जाए दुनिया भर में सब जगह कुछ भी हो सारी सृष्टि का प्रलय हो तो ये ये सब लीला भगवान शंकर जी की तो कल्पांतकारी और सदा आनंद दाता प्रारी और सदा सज्जन लोगों को आनंद देने वाले हैं भगवान ने हमारे सज्जनों का आनंद देते हैं ये भगवान जो गिरजन है उनको दुख प्राप्त होता है और जो सज्जन है उनको सुख प्राप्त होता है सज्जनों को सुख से तो प्राप्त होता है जो सज्जन है उनका चित्त शांत है और चित्त भी शांत होने के कारण से तो परमात्मा का आनंद उसमें उपलब्ध हो जाता है इस प्रकार के परमात्मा सब गुणों को तो होता है लेकिन जो दुर्गम दुर्गुण है उनका मन मलिन होगा और विश्व होगा तो उसमें परमात्मा का आनंद नहीं दे पाता ये बताने के लिए कहते हैं सज्जन आनंद दाता सदा सज्जन आनंद दाता सज्जनों को तो सदा ही आनंद प्राप्त होता रहता और फिर हरी आप पूरी के हरी फिर निशाचर हुए उनके आप विनाश करने वाले तो नारी भी कहते हैं स्त्री नारी भी कहते हैं फिर से माने स्त्री फिर भाई तो एक बार एक राक्षस हुए तो राक्षस तीन भाई हम्म। और वो तीन राक्षसों ने उपासना की पूजा की और शंकर जी ने उनको वरदान दे दिया तो उनको वरदान दे दिया अमर होने का वरदान दे दिया तो अमर हो गया वो कहने लगे हम किसी से मारे न मरें नहीं किसी से मारे मरे तो अमर हो जाए जैसे बालू के लिए बात हो तुम्हें जिससे मरने का डर हो वो तुम बता दो हम्म? तो आपकी कथा सुनती तो उन लोगों ने कहा कि उन्होंने सोचा कैसे असंभव कोई बात बता दे जब कभी होगी तो न कभी हम मरेंगे तो उन्होंने कहा कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जो एक बार से हम तीनों को मारे तब हम मरे हमारे न मरे और फिर उन्होंने मान मान कर लिया उसने अपने आप को बताने के लिए तीन किलो कहा कि हमको तीन किलो एक लोहे का खिला दो चांदी का खिला दो एक सोने का खिला दो हम्म, और उस किले के भीतर हम रहेंगे आकाश में उनके ये तीनों पुतले मिल गए एक सोने का किला मिल गया लोहे का किला मिल गया चांदी का तीनों भाइयों के किले में रहने लगे आकाश में उड़ने लगे और कहा कि जब कोई ऐसा हो जो एक बार मारे और हमारे तीनों किलो के भीतर घुस जाए और पास निकल जाए तब हम मरेंगे तो मरेंगे उन्होंने कहा हम तीनों सीध में आएंगे नहीं हम कभी रहेंगे हो ऐसा होगा नहीं इतना कोई वीर आगे उतना आगे तो ऐसा बाढ़ मारे कि तीनों किलो में जाकर के हमारा घुस जाए और हमको मार दे ऐसा कभी हो ही नहीं सुंदर या संभव हाँ, वो हो गए जो है और अजय हो गए दर्शन बड़े दुख पीड़ित आदि जैसे जीव के होते हैं जैसे उसके बड़े हानिकारक देश बचा दिया था उस संसार तो आखिर में ब्रह्मा जी ने सब प्रार्थना की शंकर जी से भी भाई आपने ऐसा वरदान दिया हम भी इनको मार तो शंकर जी ने अपना वो धनुष जो बाद में तोड़ा गया है हाँ, वो शंकर जी धनुष बनवाया अपने उस पर बांध चढ़ाया लेकिन मारा बारह तीनों के साथ लगा तब जा सकते हम तो लोग कहते हैं कि स्थूल सूक्ष्म में जितने शरीर है यही कहते शरीर में बात करने वाला जीव है वो देहाभिमानी और स्वप्नाभिमानी और उसमें शिक्षिकाभिमानी जो जीव है बात ये जीव ही उपद्रव करता है और सारे दुख का कारण यही है ये समझता है कि हम तो अभी हमारा कौन विकास सकता जो चाहे स्वयं ऐसे करके समझता रहता है और बस भगवान शंकर जी की जब कथा होती है तब वो अपने तीसरा शरीर बार ऐसा मारते हैं जो कि तीनों शरीर एक साथ में कारण शरीर में ऐसा भाव मारता है कि सूक्ष्म शरीर से होता हुआ स्त्री शरीर निकल जाता है तो जहाँ कारण शरीर नष्ट हुआ अगर उसके बाद सूक्ष्म शरीर भी नष्ट हो जाता है तो स्त्री शरीर भी नष्ट हो जाता है और जीव फिर मुक्त हो जाता है इसलिए भगवान के प्राणी बसाई चिदानंद संदोह मोहाधारी आप चित और आनंद के संदोह संदोह मन भंडार घनीभूत घन है आनंद घन है और मोहाधारी और मोह का अपहरण करने वाले अज्ञान का नाश करने वाले अज्ञान को कौन नाश करे ये ज्ञान स्वरूप होगा वही नाश करे परमात्मा ज्ञान स्वरूप है वही हृदय में आगे अगर हो तो ज्ञान का नाश करे अज्ञान का नाश करे तो प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभो मन मधारी प्रसिद्ध मैंने प्रभा करो हमारे ऊपर दया करो दया करो मैंने प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभो हे प्रभो मनमत अरे मनमत मैंने काम की और भी भगवान शंकर जी ने काम को भी उसी प्रकार का भस्म कर दिया तीसरे में प्रसिद्ध ज्ञान के तीसरे में प्रभो काम को भस्म कर दिया बालकान ने उनकी सफाई दी इसलिए उनको मनमत हारी भी कहते हैं नजावत माना तपादारविंदम कहते हैं कि जाकर जब तक जो वो उमानाथ के शरणारविंदों में जब तक व्यक्ति का प्रेम नहीं होता समर्थन नहीं होता तब तक व्यक्ति का उद्धार नहीं होता भजन की लोक करेगा नारायणम इस लोक में हो और चाहे परलोक में जब तक मनुष्य लोग उनका भजन नहीं करते न का तब तक व्यक्ति को सुख प्राप्त नहीं होता न शांति शांति भी प्राप्त नहीं होती संताप नाशन और आपको संताप के नाश करने वाले हैं संताप देश का कभी दूर होता है तो का प्रभो सर्वभूत आदिवासन सर्वभूत आदिवासन सब भूतों प्राणियों के हृदय में बात करने वाले हे भगवान प्रसिद्ध प्रसिद्ध आप प्रसन्न हो जाए सर्वभूत अधिवासम सर्व प्राणियों के हृदय देश में बात करने वाले जैसे भगवान के भ्रमण करना भगवान कहा प्रजा का प्राणियों के सेवन बात करना न जानाम योगम जपम नहीं पूजाम हे भगवान न तो हम योग जानते हैं न जब जानते हैं न कोई पूजा जानते हैं प्रकार की कोई साधना नहीं हमारी है बस आपकी शरण में है आप प्रकार करो आप प्रकार नहीं कर सकते हैं बस यही हमारा बल न तो हम सदा सर्वदा समुद्धम हम न तो हम हम आपके सामने मत हैं सदा सर्वदा समझो और हे सुंदर आप जो हो तो ब्रह्म आपको आपको हम प्रणाम करते हैं आपकी वंदना करते हैं आपके सामने नमन होते हैं उसे कभी बोले तो जरा जन्म दुख हो जरा और जन्म और दुख जरा मैंने वृद्धावस्था वृद्धावस्था के दुख और जन्म के दुख और और अग मैंने और मैंने उसके समूह या पाप ये सब जो है ताकत मानम तो तत्व तत्व मानम जो छठे मानने में इनसे हैं जो प्राणी जरा के से तप्त हैं जन्म के दुखों से तप्त हैं अन्य पापों से तप्त हैं ऐसे तप्त जितने व्यक्ति प्राणी हैं उनके सब सर्वोपाधि आप वो सब आपके क्षण में आए हुए हैं आपके आप उनके ऊपर प्रकार की करिए वो सर्वोपाधि आपान नमानी से संभव आपान आपको ये सब के सब आपको प्रणाम कर रहे हैं और आप सबके ऊपर कृपा करिए हे संभो सबके ऊपर कृपा कर रहे हैं इस प्रकार की ये गिनती उन्होंने विप्र में भगवान शंकर जी से की तो कहते हैं इसके शंकर जी शंकर जी की कथा सुना रहे हैं कालभूषण की कथा सुना रहे हैं और कालकृष्ण जी सुना रहे हैं गरीब की कथा और कहते हैं इस प्रकार के शंकर जी ने ये कहा तो प्रार्थना गुरु ने इस प्रकार सुंदर जी थी तब कहते हैं रुद्राष्टक निगम कोटम वितरण उस वितर ने भगवान शंकर जी के लिए रुद्राष्टक रुद्राष्टक में आसन क्यों नहीं तो शंकर जी की प्रार्थना इसलिए रुद्राष्टक कहलाता तो रुद्राष्टक इदम प्रोत्तम ये रुद्राष्टक बोले वितरण हर कोष है शंकर जी के कोष के लिए हर कोष है शंकर जी को पुष्ट करने के लिए शांत करने के लिए ये उन्होंने ये सब ने ये प्रार्थना की थी तो ये प्रथम के तो भक्ता आप जो भक्त लोग इसका पाठ करेंगे प्रेम पूर्वक भक्त पूर्वक तो शाम संदीप पूर्वक उन पर भी शंकर जी प्रसन्न होंगे जैसे उसमें प्रेम भगवान शंकर जी ने बड़े आदर के साथ प्रेम पूर्वक प्रार्थना की जो शंकर जी ने कृपा की आज बताते हैं किसी प्रकार जो भी शंकर जी किस प्रकार प्रार्थना प्रेम पूर्वक करेगा विचार पूर्वक समझदारी के साथ करेगा शंकर जी की कृपा उसका अवश्य होगी उसके साथ तो सुन की सर्वज्ञ से वह देश युद्ध विप्रय निराज तो शंकर जी ने जब देखा तो युद्ध ने बड़े प्रेम पूर्वक भक्तिपूर्वक ऐसी विनती की हो तो फिर मंदिर नगर रानी भी दिजगर वर्मान का करी और कहा कि ये भी तुम भगवान मानो क्या चाहते हो तुम जो प्रार्थना कर रहे हो अब विप्र ने बताया हम प्रार्थना क्या करते हैं तो इस समय विप्र ने चतुर्ता दी थी वो भी ग्रहण कर दिया क्या चतुर्था के जितने सारे हमने प्रार्थना की तो जरूरत हमने वरदान देने को तैयार है तो कहा अपना भी मतलब सिद्ध कर लो और शिष्य भी मतलब सिद्ध कर दो दोनों का हो जाना चाहिए तो कहते जो प्रसन्न प्रभु मेरे पर है नाथ दीन पर तो हे भगवान यदि आप हमारे ऊपर कृपा किए और दयाल हुए हैं तो फिर ऐसा करो कि निज पद भगत देवी पर हो तो सबसे पहली बात तो ये आपके चरणों में अपने चरणों में हमें छुट्टी प्रदान करो ये तो उन्होंने अपने लिए मान लिया और पुण्य दूसरे पर गए